माय तुम से काल कुचारी इत भीत जस पाकत सारी कही विधि राम कही विधि हो राम अब से को मुहि अब कलत पायन कु फिरहि गुरु आय सुमायनि मुनि पुनि कहब राम रुचि जानि मा तु हो बहु जननि हठ जाओ भरत जी सोचते हैं कि माता के मिस से काल ने कुचाल की है जैसे धान के पकते समय ईति का भय आ उपस्थित हो अब श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक किस प्रकार हो मुझे तो एक भी उपाय नहीं सूझ पड़ता गुरु जी की आज्ञा मानकर तो श्री राम जी अवश्य ही अयोध्या को लौट चलेंगे परंतु मुनि वशिष्ठ जी तो श्री रामचंद्र जी की रुचि जानकर ही कुछ कहेंगे अर्थात वे श्री राम जी की रुचि देखे बिना जाने को नहीं कहेंगे माता कौशल्या जी के कहने से भी श्री रघुनाथ जी लौट सकते हैं पर भला श्री राम जी को जन्म देने वाली माता क्या कभी हट करेगी मोही अनुचर कर के बाता तहि महकुशमविधाताोहठ निपट कुकरमु हर गिरिते गुरु सेवक धरमु एक जुगुतिन मन ठहराने। सोचत भरत रैन बिहानी त्रात नहाए प्रभु सिर नाए बैठत पठये ऋषय बुलाए मुझ सेवक की तो बात ही कितनी है उसमें भी समय खराब है मेरे दिन अच्छे नहीं हैं और विधाता प्रतिकूल है यदि मैं हठ करता हूँ तो यह घोर कुकर्म अधर्म होगा क्योंकि सेवक का धर्म शिव जी के पर्वत कैलाश से भी भारी निभाने में कठिन है एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी सोचते ही सोचते रात बीत गई भरत जी प्रातःकाल स्नान करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी को सिर नवाकर बैठे ही थे कि ऋषि वशिष्ठ जी ने उनको बुलावा भेजा गुरुपद कमल प्रणाम करे बैठे आय सुपाय विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सदयाय भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर बैठ गए उसी समय ब्राह्मण महाजन मंत्री आदि सभी सभासद आकर जुट गए बोले मुनि बर समय समाना सुनो सभासद भरत सुजाना धर्म धुरीन भानु कुल भानु राजा राम सबस भगवानु सत्य संध पालक श्रुति से तु राम जन्म जग मंगल हेतु गुरुपितु मातु बचन अनुसारे खल दल दलन देव हितकारी श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी समयोचित वचन बोले हे सभासदों हे सुजान भरत सुनो सूर्यकुल के सूर्य महाराज श्री रामचंद्र धर्म धुरंधर और स्वतंत्र भगवान है वे सत्य प्रतिज्ञ हैं और वेद की मर्यादा के रक्षक हैं श्री राम जी का अवतार ही जगत के कल्याण के लिए हुआ है वे गुरु पिता और माता के वचनों के अनुसार चलने वाले हैं दुष्टों के दल का नाश करने वाले और देवताओं के हितकारी हैं नीति प्रीति परमारथ स्वारथो पून राम सम जानथारो विधि हर सशिर वि पारा माया जीव करम कुलकारा अहिप महिप जह लगी प्रभुताये जोग से दिन गमागम गाई गाये कर विचार जिय देख हुनी के राम रजाय सब ही के नीति प्रेम परमार्थ और स्वार्थ को श्री राम जी के समान यथार्थ तत्व से कोई नहीं जानता ब्रह्मा विष्णु महादेव चंद्र सूर्य लिखपाल माया जीव सभी कर्म और काल शेष जी और पृथ्वी एवं पाताल के अन्यान्य राजा आदि जहाँ तक प्रभुता है और योग की सिद्धियाँ हैं जो वेद और शास्त्रों में गाई गई हैं हृदय में अच्छी तरह विचार कर देखो तो यह स्पष्ट दिखाई देगा कि श्री रामचंद्र जी की आज्ञा इन सभी के सिर पर है अर्थात श्री राम जी ही सबके एकमात्र महान महेश्वर है राखे राम रुख हम सब कर हित होई समुझ सयाने करहु अब मिले सब मिल सम्मत सोई अति श्री राम जी की आज्ञा और रुख रखने में ही हम सब का हित होगा इस तत्व और रहस्य को समझकर अब तुम सयाने लोग जो सबको सम्मत हो वही मिलकर करो